और अगर वो तौरात और इंजील और जो किताब अब उनके पास है उनके रब की तरफ से भेजी गई है उसकी ठीक ठीक पाबंदी करते तो वो अपने ऊपर और अपने पांव के नीचे हर तरफ से अल्लाह का रिस्क खाते अगरचे उनमें एक जमात राह रास्त पर चलने वाली भी है मगर उनमें से बहुत से लोग ऐसे ही हैं कि उनके आमाल खराब हैं